Obrigado. लोक में जो लय की प्रक्रिया एक प्रकार से बताई गई भावना पूर्वक लय और विचार पूर्वक लय तो यहाँ जो पद्धति बताई हुई है वो भावना पूर्वक लय की पद्धति नहीं है विचार पूर्वक लय की पद्धति है ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म बुद्धि की प्रधानता होती है दृश्यते त्वग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म भी सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा को जानना इसके लिए शंकराचार्य भगवान ने जो भाष्य का प्रारंभ किया इस मंत्र के लिए वो थोड़ा विलक्षण है इसलिए आपको सुनाते हैं एवं पुरुषे आत्मनि सर्वम किया नाम रूप कर्म त्रयम जन्म मिथ्या ज्ञान विजृंभृता क्रियाकारक संलक्षण स्वात्म जाथात्म्य ज्ञानिनो चुदक रज्जु सर्प गगन मलानी व मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शन स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवती यहा अतः तदर्शनार्थम अनाद्य विद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जंतव आत्मज्ञानाभिमुखा भवत एवं पुरुषे आत्मने कहते हैं कि जिसको पहले विष्णु पद कहा गया था ना पद विष्णु परमं पदम उसी को पुरुष कहा गया पुरुषान्न परम किंचित साकाशा सा परागते जो विष्णु पद है सो पुरुष है तो पुरुष कहने पर भी कोई उसको अपने से जुदा न समझे क्यों तद जक्षेप शांत आत्मनि आत्मनि शब्द से वही पदार्थ कहा गया है नवे दसवें मंत्र में नवे मंत्र में कहा गया तब विष्णु परमम पदम और ग्यारहवें मंत्र में कहा गया पुरुषान्न परम किंचित पर आगते और बारहवें मंत्र में बुधोत्मान प्रकाश से आत्मा और तेरहवें मंत्र में तब जक्षे शांत आत्मनि उसी को शांत आत्मा कहा गया माने ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि विष्णु का परम पद कोई दूसरा है पुरुष कोई दूसरा है आत्मा कोई दूसरा है ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए बिल्कुल एक ही वस्तु का ये सारा का सारा वर्णन हो रहा है इसको समन्वित करने के लिए एवं पुरुषे आत्मनि ग्यारहवें मंत्र वाला पुरुषे ले लिया और बारहवें तेरहवें मंत्र वाला आत्मनि ले लिया और दोनों को मिला करके भाष्य में जब एक साथ रखा तब मालूम पड़ता है कि शंकराचार्य भगवान ये बता रहे हैं कि ये किसी दूसरी वस्तु का साक्षात्कार नहीं है अपने ही साक्षात्कार है अपने आत्मा का ही साक्षात्कार है इसमें सबका प्रविलापन करना तो प्रविलापन कैसे करना तो नाम रूप कर्म त्रय नाम रूप और कर्म ये तीनों नाम बोला जाता है जीव से और रूप देखा जाता है आंख से और कर्म होता है हाथ पांव आदि इंद्रियों से तो बृहदारण्य उपनिषद में केवल नाम और रूप दो का वर्णन है और छांदो के उपनिषद में नाम रूप कर्म तीनों का वर्णन है <clears throat> ये तीनों जो ब्रह्म में दिखाई पड़ते हैं अलग अलग रूप अलग अलग नाम और अलग अलग कर्म ये पापी है ये पुण्यात्मा है ये स्वरूप है ये कुरूप है ये रूप है स्वरूप है ये अरूप है और इसका ये नाम है ये स्त्री है ये पुरुष है तो ये तीनों बात जो कर्म का भेद रूप का भेद और नाम का भेद जो मालूम पड़ता है ये मिथ्या ज्ञान विजृंभिता अपने स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान न होने के कारण ये मालूम पड़ता है ये जितनी क्रिया है और इस क्रिया को करने के लिए जितने कारक हैं अपने पास हाथ पांव आदि जो सामग्री है और इसका जो फल है सुख दुख ये तीनों जब अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है तब इनकी क्या दशा होती है मरी चुड़क रज्जु सर्प गगन मलानी व जैसे सूर्य की किरणों में दिखता हुआ जल रस्सी में दिखता हुआ सांप और आकाश में दिखती हुई नीलिमा यदि सूर्य की किरण को जान ले तो वहाँ पानी नहीं रज्जू को जान ले तो सांप नहीं आकाश के स्वरूप को जान ले तो नीलिमा नहीं तो जो इनमें सत्यत्व की भ्रांति हो रही है वो अधिष्ठान याथात्म्य के ज्ञान के विनयी हो रही है तो जब ज्ञान हो गया तो उनका प्रविलापन हो गया ये एक ऐसी बात है जो जोगियों के ध्यान देने लायक है ये कहते हैं कि आकाश के स्वरूप का ज्ञान होने पर आकाश में जो नीलिमा है उसका प्रविलापन हो जाता है तो क्या आकाश को जो जान जाता है उसको नीलिमा आंख से नहीं दिखती है और जब तक आंख रहेगी तब तक आकाश में नीलिमा दिखती रहेगी लेकिन जो आकाश के स्वरूप को जानता है वो जानता है कि आकाश ही सब कुछ है नीलिमा कुछ नहीं है इसी प्रकार जो ब्रह्म को जान लेता है उसको क्या प्रपंच नहीं दिखेगा बोले प्रपंच दिखता रहेगा जब तक आंख रहेगी नाक रहेगी दिल रहेगा दिमाग रहेगा तब तक उसको भी ये सारी दुनिया दिखेगी लेकिन जैसे आकाश के स्वरूप का ज्ञान होने पर नीलिमा जो है वो दिखती हुई भी प्रतीति मात्र रहती है उसी प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर ये दिल ये दिमाग ये आंख ये कान ये नाक और इनसे मालूम पड़ने वाली दुनिया ये प्रतीति मात्र रहती है वास्तविक नहीं रहती है इसलिए स्वस्थ डरो मत जो कहा जाता है तो कहा जाने दो किसी की जीप पकड़ने की जरूरत नहीं है <clears throat> और जो दिखता है उसको दिखने दो किसी पर चाही पोतने की जरूरत नहीं है जो हो रहा है तो होने दो नारायण किसी भी होने को बंद करने की जरूरत नहीं है तुम तो स्वस्थ हो स्वस्थ हो अपने स्वरूप में स्थित हो और कृतकृत्य हो तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्माभिन्न आत्मदेव हो ये बात तो जब ज्ञान होगा जब तो होगी ना इसलिए इस आत्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए हे अनादि अविद्या में सोने वालू जंतुओं उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत उठो उठो जागृत जागो जागो क्यों सो रहे हो जागृत अज्ञान निद्राया गुर रूपाया सर्वानर्थ बीज भूताया क्षय कुरुत ये जो अज्ञान की नींद है और जिसमें तुम सपने की तरह ये सारी सृष्टि देख रहे हो बड़ी भयंकर ये जो निद्रा है जिसमें सारे अनर्थ के बीज हैं इस निद्रा को नष्ट कर दो नष्ट कर दो क्षय कुरुत जागृत जागृत कल एक सज्जन पूछ रहे थे कि जब तक हम वेदांत का स्वाध्याय करते हैं तब तक तो बिल्कुल यही ठीक लगता है और इसी का चिंतन होता है घंटे दो घंटे इसी का चिंतन होता है पर फिर बाद में वस्तुओं का चिंतन होने लगता है है ना व्यक्तियों का चिंतन होने लगता है जो दुश्मन है दोस्त हैं उनकी याद आती है जो दुख देने वाली सुख देने वाली चीजें हैं उनकी याद आती है तो उस समय क्या करना चाहिए इनका निरोध कैसे करना चाहिए तो मैंने उनको सुनाया कि देखो वस्तु और व्यक्ति जो दुनिया में है वो तो बिचारे कोई अपराध करते नहीं वो तो अपनी जगह पर हैं वो तो तुम्हारे दिल में आके घुसते नहीं है घुसे तो फट जाए हाँ। देखो जिस दोस्त को तुम अपने दिल में याद करते हो ना अगर वो दोस्त सचमुच तुम्हारे दिल में घुसने लग जाए तो तुम क्या करोगे बताओ है ना अरे आंख फट जाए मुंह फट जाए कलेजा फट जाए उस सचमुच का तो गुस्सा ही नहीं है, कथा तो तुम्हारा दिल ही जा करके अपने दोस्त और दुश्मन पर छा जाता है तो दिल तो तुम्हारा बिल्कुल धड़कन चलती रहती है, है? और कोई छू दे तो मालूम पड़ता है कोई गाली दे तो दोस्त भूल जाता है, है? तो न तुम्हारा दिल जाके दोस्त में घुस गया न दोस्त आके तुम्हारे दिल में घुस गया इतना विवेक तो तुमको है ना <coughs> तो बोले महाराज फुरफुराता तो है तो फुरफुराता है तो जो दिल में पहले से जिसका संस्कार है वही तो फुरफुराता है जैसे सपना आता है सपना कैसे फुरफुराता है सपने में कोई गांव दिमाग के भीतर घुसता है कि दिमाग शरीर को छोड़ के किसी गांव में चला जाता है न दिमाग जाता है न गांव आता है दिमाग में जो संस्कार है वही वासना के रूप में पुरता है उसी को सपना बोलते हैं तो उसको क्या करते हो निरोध करते हो उसका तो नहीं सपने का तो निरोध नहीं करते हैं अच्छा सपने से जब उठो तब उसका निरोध करो बोले वो तो हो चुका महाराज अब क्या निरोध करेंगे तो ये जागृत में भी जो चीज अपने मन में फुरफुराती है वो न कहीं से आती है न हमारा मन कहीं जाता है मन में जैसा संस्कार पहले से पड़ा हुआ है वैसा वो फुरफुरा जाती है उसके साथ द्वंद्व नहीं करना उसके साथ संघर्ष नहीं करना बोला जैसे सपना आता है और फिर तुम उसको छोड़ देते हो जागने के बाद वो उसे तुम्हारे मन में कोई फुरफुरा जाए और फिर ख्याल आवे कि ये तो फुरफुरा गया तो सपने को छोड़ दिया न तो उसके अनुसार <clears throat> देखो स्वप्न में कोई हमको मारता दिखे तो जाग के उसको मारने जाते हैं दुश्मनी करते हैं उससे और सपने में हमको कोई प्यार करे तो क्या जाग के उससे प्यार करने जाते हैं सपने में कि कोई हमको पचास रुपया दे जाए तो क्या जाग के हम वो पचास रुपया उससे लेने जाते हैं तो ऐसे मन में अगर कोई फुरफुराहट हो जाए तो उसको महत्व मत दो उसको कीमत मत दो है ना फुरफुरा गई फुरफुरा गई आई गई हो गई हाँ, आई गई हो गई हुआ तो हुआ गया तो गया है ना उसके साथ संघर्ष करोगे यदि तो वो कीमती हो जाएगा मन तुमने उसको दुश्मन माना अपना और दुश्मन माना तो जहां तुमने अपने को दुश्मन माना वो तुम्हारी बराबरी करने लायक हो गया अब वो तुमसे लड़ेगा और जहाँ तुमने उसको दोस्त मारा वो कहा वो तुम्हारी चोटी पकड़ेगा है ना और जैसे सपने में आया और गया ऐसे मन में आया और गया और यदि उसको फुरफुराने दोगे है ना फुरफुरा गया गया गया गई बात को फिर याद बुलाओ मत है ना हाँ। संस्कार के अनुसार फुरफुरा गई फुरफुरा गया तो उसकी चकिए स्वप्रवत इसी को बोलते हैं स्वप्रवत संसार में जितनी कल्पनाएं आती हैं भविष्य के लिए और जितनी स्मृतियां आती हैं भूत की और जितने संबंध जुड़ते हैं वर्तमान में वो सब के सब स्वप्नवत स्फुर मात्र हैं और जैसे स्वप्न स्वप्न काल में भी मन से जुदा नहीं होता है वैसे ये संसार के सारे स्फुरण इस स्फुरण काल में भी मन से जुदा नहीं है अपने आप से जुदा नहीं है अपने आप में ही ये विवर्त ये प्रतीतियाँ सारी की सारी हो रही हैं इनसे दुश्मनी मत करो इनसे दोस्ती मत करो सड़क पर आने जाने वाले को रोको मत जो सड़क पर आता है उसको रोको मत जो जाता है उसको रोको मत सड़क पर यही यही लोग चलें और ये ये लोग न चलें ये कानून मत बनाओ ये तुम्हारी मन तो सड़क है इसमें जो संस्कार में भरे हुए लोग हैं वो आते जाते रहते हैं ये तो इसको सच्चा जब मानते हैं तब ये फंदे में डालता है तो इसी से ये जितने धर्मात्मा लोग हैं और जितने उपासक लोग हैं और जितने जोगी लोग हैं उनको जिंदगी भर अपने मन के बनाए हुए भूत से लड़ना पड़ता है अपने मन से ही तो भूत बनाते हैं और फिर भूत से लड़ाई करते हैं और वेदांती जो है वो जानता है कि भाई ये मनी राम का स्वभाव ऐसा है कभी भूत बन के है ना धमकाते हैं आ, तो कभी दोस्त बन करके दुलार करते हैं ये कभी माँ बाप बन के आते हैं तो कभी पत्नी पुत्र बन के आते हैं कभी प्यारे बन के आते हैं कभी दुश्मन बन के आते हैं ये मनी राम का ये स्वभाव ही है आए गए है ना इनको महत्व तो मत दो इनके कहे अनुसार काम है मन जो संसार में दोस्त और दुश्मन बनाता है ये जागते का सपना है जागृत स्वप्न है तो निरोध का वो जो नियक्षता नियक्षता आया ना पहले मंत्र में क्या आया येद वांग मनसी प्राज्ञ सब्जेत ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियक्षेत तब शांत आत्मने तो जो लोग समझते हैं कि मन से द्वंद्व न करना संघर्ष न करना मन में वैरस्य वैमनस्य उत्पन्न न करना है ना क्यों बोले है कि ये तो वही प्रतीति का सहज स्वभाव है कुछ का कुछ भाषती रहती है भाषने दो भाषता ये तो माइक का भूषण है जादूगर जो होता है मायावी जो होता है वो कुछ का कुछ भागता रहता है तो ये नींद ना समझी छोड़ो ये जो तुम इसको अपना सच्चा दोस्त और सच्चा दुश्मन समझते हो ये ना समझी है जागृत जागृत जाग जाओ जाग जाओ और ये ना समझी छोड़ दो और निबोधत प्राप्त बराल निबोधत जो अमृत वर्षी वम अमृतम थी यदि वरा जो अमृत दान करने वाले वर पुरुष हैं बड़े परमात्मा से जो एक हो गए हैं तो उनके पास जा करके निबोधत समझो क्या समझे महाराज तत्ववेदताओं के पास जाकर के सर्वांतर जो आत्मा है वो मैं हूँ तदहमस्मी इति निबोधत अवगछत वही मैं हूँ तो ये जानो नहीं उपेक्षित अभियान देखो इसकी उपेक्षा मत करो ये बड़ी काम की बात है अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारे सब दुख भाग जाएंगे सारे दारिद्र भाग जाएंगे सारे अभाव भाग जाएंगे हैं? <coughs> तो बड़ी कृपा से जैसे माँ अपने बेटे को समझाती है वैसे श्रुति बड़ी कृपा करके ये वेद भगवान बड़ी कृपा करके तुमको समझाते हैं सत्पुरुषों के पास जाओ माँ कहती है कि बेटा मास्टर के पास जा करके पढ़ो ये श्रुति कहती है कि ब्रह्म वेदता के पास जा करके ब्रह्म वेदता के पास जा करके जानो एक बात और है ये जो वेदांत का जीवन है ना ये समस्याहीन जीवन है वेदांत का जीवन इसमें कोई किसी के जीवन में जब प्रबल समस्या का उदय होता है ना तो उसको प्राबलम बोलता है हाँ हाँ ये प्राबल्यम है समस्या प्राबल्यम ये ये प्राबलम बोलता है तो वेदांती जीवन में कोई समस्या नहीं है क्योंकि जिसका अभाव मालूम पड़ता है उसका अभाव नहीं है अधिष्ठान है और जिसका भाव मालूम पड़ता है उसका भाव नहीं है अधिष्ठान है हर हालत में अपना आपा ज्यो का क्यों हर हालत में अपना आपा ज्यो का क्यों है तो क्षुरस्य धारा निशिता गुहा निशिता गुरस्य इसको जानो जानो क्यों जाने क्या जानने में थोड़ी कठिनाई है कठिनाई के बिना कैसे जानोगे एक तो ये बात है आपने वो सुना होगा ना एक कोई जिज्ञासु आए महात्मा के पास तो महात्मा बड़े दयालु थे जिज्ञासु ने कहा महाराज सत्य क्या है तो बोले कि तू ही सत्य है भाई ये जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है तो बिना हुए दिख रहा है तू सत्य है तू ही ब्रह्म है तू ही अधिष्ठान है तत्व तो श्वेत के तो अब महाराज फिर दूसरे दिन वो आया बोले महाराज और कुछ बताओ ये तो बड़ी सीधी सी बात तत्व मसी तो मसीह आपने बात तत्व तो मसीह आपने कह दिया इसमें तो कोई कठिनाई नहीं कोई यज्ञ करना नहीं पड़ा कोई मन एकाग्र करना नहीं पड़ा है? कोई उपासना किसी देवता को खुश करना नहीं पड़ा सीधी सादी बात कह दी क्या परमार्थ इतना सीधा साधा है विश्वास नहीं होता है अरे अच्छा बेटा जाओ हमारे पास तो इतना ही है तो दूसरे गुरु जी के पास गया गुरु जी ने कहा क्या चाहिए बोले परमात्मा बोले परमात्मा कहीं ऐसे मिलता है पहले बारह बरस गाय चराओ और गोबर पाथो गाय चराई गोबर पाथ और बोले बारह बरस बर्तन मांगो तो बारह बरस रसोई बनाओ बारह बरस कोठार संभालो हाँ। बोले हाँ आप ठीक है अड़तालीस बरस हो गया कहाँ हो गया कि तुमको अभी सत्य का दर्शन हुआ कि नहीं बोले ना महाराज अभी कहाँ हुआ अभी तो आपने बताया ही नहीं तो बोले सत्य तो ये है कि तू ही सत्य है तत्व मसी तू ही पर ब्रह्म परमात्मा है, है? और तेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है बोले हाय राम <laughs> तेरे बात <laughs> अगर अंत में यही सच्चा निकलना था तो ये बारह बरस गोबर काटना गाय चराना है ना बर्तन मांजना रोटी बनाना कुठार संभालना ये सब अड़तालीस बरस का झगड़ा हमारे सिर पर काय को तोड़ दिया तो कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि जब तक उनसे कुछ उठक बैठक न करवाई जाए <laughs> उठक बैठक माने आसन साधना है ना न करवाई जाए जब तक कुछ दम घोटू उपाय न बताया जाए दम घोटू उपाय जानते हैं ना <laughs> जब तक प्राणायाम न हो जब तक इंद्रियों से लड़ाई करो कहीं जाने न पावे हाँ। अब लड़ो चाहे अड़तालीस बरस अंत में यही कहना पड़ेगा कि इंद्रियों का जो स्वभाव है देखना सुनना वो करती रहेंगे है ना कोई जिज्ञासु अंधा नहीं हो जाएगा जिज्ञासु बहरा नहीं हो जाएगा जिज्ञासु चाहे जितनी लड़ाई करो तो बोले मन को रोको तो मन को रोको तो पत्थर होके रहो है ना अंत में कोई भी तो ये नहीं कहेगा कि तुमको पत्थर होके रहना ही तुम्हारा परमार्थ है तो जो लोग ऐसा समझते हैं वो बिल्कुल गलत समझते हैं बोला तो ये ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति के बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति के बिना मनुष्य का असंतोष कभी मिट नहीं सकता बता तो जब बताते हैं कि साधन बहुत मुश्किल है तब उस पर दुर्लभ है ये स्त्रियां जाती हैं ना पर्स में अपनी पारस मणि लेकर करके बाजार में तो वो कीमत पूछते हैं ये पांच रुपए कीमत का है तो घर से सोच के गई होती है कि सौ रुपए की चीज खरीदनी है तो पांच रुपए की कीमत वाली चीज दिखावे कहता होता तो अच्छा पचास रुपया अरे नहीं जब वो कहेगा कि हाँ इसकी कीमत सौ रुपया है तब उनका मन भर जाएगा क्योंकि उससे परस खाली होता है तो जब तक परस खाली ना हो तब तक संतोष नहीं होगा वो चीज की अच्छाई नहीं देखेंगी वो तो जिस चीज की कीमत ज्यादा हो उसको खरीदना पसंद करेंगे है? देखो दलिया बलाद बना लेना या खिचड़ी बना लेना कितना आसान है लेकिन आदमी कढ़ी बना के खाता है कि नहीं बड़े बनाता है कि नहीं डोसा बनाता है कि नहीं तो कष्ट साफ के कष्ट साफ के तो कष्ट साध्य में भी लोगों की रुचि होती है अब ये जो वेदांत का ज्ञान है आत्मज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है ये सूरत से धारा निशिता गया जैसे खूब शांत खड़ा करके और सूर्य की धारा रखी हुई हो तो उस पर पांव रख के चलना मुश्किल पड़ता है ना ऐसे ये वेदांत के मार्ग पर चलना जरा मुश्किल पड़ता है इसमें मुश्किल क्या है तो आपको एक दो मुश्किल बताता हूँ सूरज धारा निशिता दुरक्षया दुर्गम कवयो बदंती लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे ये आंख से हाथ में ले करके फूल जाना जाता है ऐसे हम अपने आत्मा को भी हाथ में लेके आंख से देख लेंगे है ना? तो ये तो छोटी चीज है ना और फूल है एक तो ये मोटी है दूसरे छोटी है फूल वस्तु है और नंगी सी है और नेत्र का विषय है और हाथ में उठाई जा सकते हैं इसलिए इस तरह से आप इसको जान सकते हैं यदि आप इसी तरह से अपने आत्मा को भी जानना चाहें और जैसे इसको देख के लौटे बोले हम गुलाब देख के आए हैं कहाँ देख के आए कहेंगे हेंगन गार्डन में देख के आए हैं <coughs> तो देखने का एक अभिमान हो गया ख्याल बन गया ना कि मैंने देख लिया तो अपने आप के बारे में आपका क्या ख्याल है क्या आप फूल को जैसे आंख से देखते हैं वैसे दृष्टा को आंख से देखना चाहते हैं जैसे दोस्त और दुश्मन को अपने मन से देखते हैं वैसी क्या आत्मा को दोस्त दुश्मन की तरह अपने मन से देखना चाहते हैं या क्या जैसे नींद को आते जाते देखते हैं वैसे आने जाने वाली नींद के समान अपने आप को देखना चाहते हैं तो दूसरी चीजों को देखने का तरीका और दूसरी चीजों को देखने की तरकीब तरीका भी और तरकीब भी है ना उसकी प्रक्रिया भी और युक्ति भी दूसरी है और अपने आप को देखने का तरीका और देखने की तरकीब दूसरी है तो होता ये है कि जिंदगी भर से बाहर की दुनिया की चीजें देखने की जो आदत पड़ी है उसी आदत को ले करके जब आत्मा का दर्शन करने के लिए आते हैं तो भीतर भी कहते हैं कि हम देखने वाले और आत्मा दिखने वाला ये जो बाह्य पदार्थों को देखते देखते एक होता है बाह्य पदार्थ और एक मैं होता हूँ उसका ज्ञाता ऐसा जो अभ्यास पदार्थों के दर्शन में पड़ गया है उसके कारण आत्मा को भी दृश्य बनाने लगते हैं और ये दृश्य बनाने की जो जिद है ये जो दुराग्रह है ये जो अन्यथा ग्रहण है दृश्य के रूप में अपने आप को ग्रहण करने की है ना ये जो पद्धति है इसका नाम अन्यथा ग्रहण है जो दृश्य हो रहा है वो दृष्टा कैसे तो आत्मज्ञान की रीति जो है और दृश्य को देख लिया और बोले हमने आत्मा को देख लिया तो किसी को श्रुति ने बताया अभिज्ञातम विजानता जिन्होंने ये दावा किया कि मैंने आत्मा को देख लिया उन्होंने नहीं देखा यश्यामतम तस्य हे भगवान ये बड़ी अद्भुत लीला हुई अपने को देखने का तरीका न्यारा होता है आप देखो अपने को अपनी आंख से क्यों नहीं देखते अच्छा आपने अपने आंख की पुतली कभी देखी है कि कैसी है पुतली से ही तो देखते हैं ना आत्मा की बात छोड़ो अगर आपको अपनी आंख की पुतली कैसी है ये देखना हो तो खुली आंख से या बंद आंख से आप अपनी पुतली को देख सकते हैं नहीं देख सकते कहता बाप की पुतली देखने का तरीका क्या है शीशे तो में देखेंगे आपकी पुतली को क्योंकि आपकी पुतली से ही तो आप देख रहे हैं तो जिससे देख रहे हैं उसको देखेंगे कैसे तो उसकी परछाई देखेंगे तो परछाई कहाँ देखेंगे शीशे में देखेंगे अब देखो शीशे में दिखते हुए देखते हुए विवेक की जरूरत पड़ेगी जो दिख रहा है तुम्हारी आंख की पुतली दिख रही है ना उसमें शीशा कितना है शीशा क्या क्या शीशा कितना है क्या शीशे के भीतर तुम्हारी आंख घुसी हुई है अरे शीशे के भीतर तो आंख गई नहीं है पुतली क्या तुम्हारी शीशे के भीतर है तुम क्या शीशे के भीतर दिख रहे हो तुम खड़े हो पूरब मुंह से और शीशे में दिख रहे हो पश्चिम मुंह से तो अगर तुम अपने को पश्चिम मुंह से सच्चा समझोगे तो झूठा गलत समझोगे ना पूरब मुंह से खड़े होके शीशे में अपने को पश्चिम रूप का देखना है ये ये पश्चिम रुख जो है वो शीशे की उपाधि के कारण है, है? और शीशे के भीतर जो मालूम पड़ते हैं सो तो तो शीशे की उपाधि के कारण है, तो अच्छा जो शीशे में दिख रहे हैं सो तो आप स्वयं हैं क्या अरे देखने वाले तो शीशे से बाहर है ना तो देखो यद्यपि अपने को देखने के लिए जगह जो है वो बुद्धि का शीशा ही है अंतकरण के शीशे में ही अपने आप को देखा जाता है परंतु उस शीशे में अपने आप को देखते हुए भी जो शीशे में घुसे हुए मालूम करते हैं जो शीशे में विपरीत मुंह के मालूम करते हैं है ना ये जो हमारा सामने को मुंह मालूम करता है जो परखाई में मालूम करता है हाँ। जब हम बुद्धि में अपने आप को डाल कर देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि हमारा मुंह पूरब है या पश्चिम है हाँ। बुद्धि के सीता में तो बुद्धि की जड़ता कितनी है और बुद्धि हमको दिखाती हुई भी अपनी कौन कौन सी विशेषता हमारे अंदर डाल देती है और हमको कितना दिखाती है इस बात को अगर समझेंगे नहीं तो अंतकरण के शीशे में अपने को कैसे समझ सकेंगे शीशे से अपना जब विवेक करेंगे और परछाई से ही जब अपना विवेक करेंगे तब ना अपने आप को समझ सकेंगे तो ये बुद्धि का शीशा है और इसमें जीव और ईश्वर रूप जो आभास है तो परछाई है और जिसकी मन बड़ी बुद्धि में बड़ा आभास बड़े शीशे में बड़ा आभास और छोटे शीशे में छोटा आभास तो जब तक अपने को शीशे से जुदा नहीं समझेंगे और शीशे में जो परछाई दिख रही है उससे अपने को जुदा नहीं समझेंगे और शीशे के कारण परछाई में जो विशेषता आ गई है शीशे का रंग जो परछाई में मालूम पड़ता है जब तक उससे अपने को जुदा नहीं करेंगे तब तक अपने को कैसे समझेंगे इसी को बोलते हैं कि अविवेक जो है परछाई के साथ प्रतिबिंब से बिंब का जो विवेक है छाया के साथ जो अपने स्वरूप का विवेक है जब तक वो विवेक जागृत नहीं होगा तब तक अपने आप को कैसे समझेंगे तो ये प्रतिबंध की चर्चा है हो बोले हम इतने यज्ञ करेंगे तब अपने आप को देखेंगे हम इतने होम करेंगे तब अपने आप को देखेंगे हमारे ऊपर ये देवता खुश होगा तब हम अपने को देखेंगे हमारी इतनी देर समाधि लगेगी तब हम अपने को देखेंगे है ना ये सब प्रतिबंध है प्रतिबंध हाँ। तो साधन है ना भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों में आस्था होना बुद्धि रूप शीशे के साथ तादाद में होना उसके द्वारा उत्पन्न की हुई विशेषताओं से विवेक न होना अपने को छाया से अलग न कर पाना ये सब ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मनुष्य अपने आप को जान नहीं पाता अपने आप को समझ नहीं पाता तो इसलिए प्राप्त के दौरान निबोधत बड़ों के साथ ये बड़ शब्द जो है ना वो हिंदी में आके बड़ा बन गया है वो हाँ हाँ ये जो बड़ों के पास जाओ बोलते हैं ना बड़ों के पास जाओ र का हो गया है सब बड़ों बोलते हैं उसको बड़ों के साथ माने बड़ों के साथ बड़ा कौन तो ये जो जिसको द्वैत की कोई समस्या नहीं है अरे फुर गया फुर गया हो गया हो गया कर गया कर गया है ना सो गया सो गया समाधि लग गई लग गई द्वैत जिसके लिए समस्या ही नहीं है कोई मित्र बन के आ गया आ गया कोई शत्रु बन के आ गया आ गया जिसके लिए द्वैत कोई समस्या ही नहीं है जिसके लिए संयोग वियोग कोई समस्या ही नहीं है जिसके लिए जन्म मृत्यु कोई समस्या ही नहीं है सबसे बड़ा वो है, वो तो सुना होगा आपने एक मच्छर उड़ता हुआ आया और बैठ की सिंग पर बैठ गया जब जाने लगा तो आंख के सामने आया हाथ जोड़ के बोला कि वृषभ देव मैं इतनी देर तक आपकी सींग पर बैठा रहा माफ करना क्षमा करना बड़ा सभ्य मत करता बैल ने कहा कि भाई हमको तो पता ही नहीं चला कि तुम कब आके हमारे सिंह पर बैठे हैं कितनी देर तक रहे और कब उड़ गए हमको तो पता ही नहीं चला है अब क्या तुम्हें क्षमा करें और तुम क्या क्षमा मांगते हो तो ये संसारी लोग जो है ना नन्हे मुन्ने जिन बातों को एक शरीर में आने जाने वाली जिन बातों को रहने न रहने वाली जिन समस्याओं को मनी राम की समस्या अलग बुद्धि रानी की समस्या अलग है प्राणों की भीड़ की समस्या अलग इंद्रियों के कर्म की और ज्ञान की समस्या अलग हाँ। ये समस्याएं जिनके लिए मच्छर तुल्य हैं अपने ब्रह्म स्वरूप में विराजमान हैं क्या समस्या आती है और क्या जाती है छोटी बड़ी बातों की जो पकड़ है उसको छोड़ करके दुनिया में जिसको बहुत बड़ा माना जाता है हमको एक बड़े शुद्ध महापुरुष ने ये उपदेश किया था संसारी लोगों की दृष्टि से जो बहुत बड़ी समस्या होती है महापुरुष की दृष्टि से उसका अस्तित्व ही नहीं होता महापुरुष की वो ब्रह्म सत्ता में ब्रह्म सत्ता में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है जिसके लिए दुनियादार लोग आपस में लड़ाई करते हैं मुकदमे लड़ते हैं राग द्वेष करते हैं रोते हैं हंसते हैं मरते हैं जीते हैं जिसके लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं जिन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण समझ करके संसार में और जिसकी दृष्टि तत्व पर है उसके लिए वो चीज कोई समस्या ही नहीं होती रहे तो रहे जाए तो जाए वो तो बिल्कुल सपने का खेल है वो तो बाजीगरी अरे है वो एक प्रकार का जादू है वो तो एक प्रकार की माया है एक प्रकार की छाया है एक प्रकार की प्रतीति है महापुरुष की दृष्टि में महापुरुष की दृष्टि में उस वस्तु का कोई तत्व नहीं है कोई ही कोई महत्व नहीं कोई सत्ता नहीं तो क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदंती जब जिज्ञासु विषय की आसक्ति को ही परमार्थ समझ लेता है तब उसके लिए ब्रह्म ज्ञान दुर्गम हो जाता है बोला आसक्ति जब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग व्यवहार में व्यापार में तो खूब करता है और परमार्थ में नहीं करता है तब उसके लिए ये दुर्गम हो जाता है जब तर्क वितर्क ज्यादा करता है और तर्क वितर्क का जो दृष्टा है जो अधिष्ठान है उसकी ओर ध्यान नहीं देता और जब वो चाहे ज्ञान हो ज्ञान नहीं था तब अपने को हड्डी मांस चाम का पुतला शरीर मानता था अब ज्ञान होने के बाद भी यही हुआ अपने को शरीर ही माने हमने जान लिया ब्रह्म को तो जान लिया पर जरा आंख हमारी टेढ़ी है हाँ जरा हाथ से इतना वजन नहीं उठता है जरा पांव से चला नहीं जाता है कब मन से ये नहीं जाती है मन में ये बात नहीं आती है देहाभिमानी को ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं हो सकता विपर्जय में दुराग्रह जो कर लेगा उसको ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं होगा एक ने कहा हमको भगवान अभी मिले तो महात्मा ने पूछा कि अभी मिल जाएगा तो करोगे क्या तुम ये पहले बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है कि भगवान मिल जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा तो बोला कि जब भगवान मिल जाएंगे तो मैं तो पालकी मार के ऐसे बैठूंगा और हमारे भगत लोग आएंगे चंदन लगावेंगे फूल चढ़ावेंगे माला पहनावेंगे और हाथ जोड़ करके हैं बोलेंगे राजा अभिराजा प्रहज्यतायने नमो वयम वही श्रवणाय कुरे समय कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वही श्रवणो हमारे भक्त लोग आके हाथ जोड़ के हमारे सामने हाँ, तो देखो ज्ञान की कितनी महिमा है कि इतनी हमारी पूजा होगी तो ज्ञान होने के बाद यदि देह पूजवाने पुजवाने की इच्छा हो है तो ज्ञान तुमसे परहेज करेगा ना परहेज करेगा ज्ञान तो ये जो प्रज्ञा की मंदता है कुतर्क है देहाभिमान की पकड़ है विषया शक्ति है बहिर्मुखता है हैं ये सब जो है ये ज्ञान में प्रतिबंधक है ज्ञान तो इतना ही है कि जो वो सो तुम जो तुम सो वो तुम्हारे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं ज्ञान तो इतना ही है अब इसमें तुमको क्या शंका है हम्म, तो यही शंका है कि फिर हम साढ़े तीन हाथ के क्यों हैं यही ना इसको महात्मा लोग गाली दे के बोलते हैं हो ऐसा कोई पत्थरों के पास जाके ऐसी बात करे गाली दे के बोलते हैं करे गीध कहीं के मैंने तो तुमको सातवें आसमान में उड़ना सिखाया है और तेरी नजर मांस के टुकड़े पर ही है मैं तुम्हें ब्रह्म बता रहा हूँ और तुम अपने को हड्डी मांस चाम है विष्ठा मूत्र का भांड ये छोड़ते क्यों नहीं हो है ना इसको गिर जा रहे लोग ये नरक नरक में ये ये खुद नरक है जाने दो नरक में इसको अरे तुम तो बिल्कुल स्वच्छ हो निर्मल फटिक भवन सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म स्वयं प्रकाश स्वच्छतानंद घन हो ये तुमको हम बताते हैं तो इसलिए क्षुरत धारा निशिता दुरतया देहाभिमान छोड़ करके देहाभिमान छोड़ करके इस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है जैसे छुर की धारा पर चलना इसीलिए इसको कठिन बना बताते हैं दुर्गम पथ कवयो वदंते इसीलिए जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष हैं वो इस ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग को कठिन बताते हैं क्यों कठिन बताते हैं ज्ञेय से अति सूक्ष्म ज्ञेय वस्तु जो है वह अत्यंत सूक्ष्म है तद विषय से ज्ञान मार्ग से दुस्संपाद्यत्व वदंते बताते हैं कि ये ज्ञान मार्ग दुस्संपाद्य है लेकिन आप देखो गीता में आया सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम स्मृत है गीता के छठे अध्याय में सुखेला आसानी से वो सुखेला माने अनायास ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख है अत्यंत सुख रूप जो ब्रह्म संस्पर्श है तो उसको वो प्राप्त करता है ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखम स्मृते अत्यंत सुख रूप है है ना राज विद्या राजभुज्यम पवित्र मिदम उत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम सुसुखम करते मध्य बड़ा आसान है योग वाशिष्ठ में आया कि आंख मूचने में तो क्रिया करनी पड़ती है फूल को मसलने में अंगुली को तकलीफ देनी पड़ती है फूल के मसलने में तकलीफ है और आपकी पलक गिराने में तकलीफ है लेकिन अपने को ब्रह्म जानने में कोई तकलीफ नहीं है तो भाई फिर जानते क्यों नहीं जानते इसलिए कि बिना विचार के जो बात पहले मान बैठे हो ना अच्छा तुमने जीव अपने को कब माना जरा याद करके बताओ कि किस तारीख को किस समय तुमने अपने को जीव माना और फिर सोच विचार के माना अनुभव करके माना साक्षात्कार करके माना अपने को अपने को जीव रूप से अपना साक्षात्कार करके तुमने अपने को जीव माना अपने को परिच्छिन्न रूप से साक्षात्कार करके तब तुमने अपने को परिच्छिन्न माना है इस प्रश्न का क्या उत्तर है अविचारित रमणीय है अविचारित रमणीय है का मतलब ये हुआ कि बिना विचार के बिना अनुभव के बिना साक्षात्कार के है ना किसी ने कह दिया कि तुम जीव हो और तुमने मान लिया लेकिन ये तुम्हारी मान्यता इतनी पक्की हो गई इतनी प्रबल हो गई ये अनजान में अनसोचे अनविचारे अनदेखे अपने को जीव मानना नरक देख के तुमने नरक माना स्वर्ग देख के तुमने स्वर्ग माना है पुनर्जन्म देख के तुमने पुनर्जन्म माना अपनी अपने पापी पने पुण्यात्मा पने को देख करके तुमने पापी पना पुण्यात्मा पना माना अपने को सुखी दुखी देख करके अपने को सुखी दुखी माना अरे ना बाबा देखने वाला तो सबसे न्यारा है अपने को सोता हुआ देख के तुमने अपने को सोता हुआ माना अगर अपने को सोता हुआ देखते हो तुम तो सोते नहीं हो और यदि सो जाते हो हैं, तो सोना देखते नहीं हो लेकिन बिना विचारे कुछ कुछ ऐसी मान्यताएं कुछ कुछ ऐसी मान्यताएं बैठ जाती हैं विपर्य में ऐसा दुराग्रह हो जाता है बोले हम तो पुनर्जन्म वाले ही हैं हम तो नारकी स्वर्गी हैं हम तो कर्ता भोगता ही हैं हम तो परिच्छिन्न नहीं हैं अब ये बिना सोचे तो तुमने माना और जो सोचता है समझता है अनुभव करता है साक्षात्कार करता है कि हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म हैं उस विचारवान की बात पर तुम ध्यान नहीं देते इसी से दुर्गम है दुर्गम इसीलिए है कि तुमको समस्याहीन जीवन का ठीक ठीक आइडिया नहीं है जिस जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहती हाँ, न कर्म की समस्या न भाव की समस्या न स्थिति की समस्या न लोक परलोक की समस्या न धर्म धर्म की समस्या न नास्तिक आस्तिक की न आस्तिक नास्तिक की समस्या न वेद लवेद की समस्या जहाँ कोई समस्या ही नहीं रहती है वो ब्रह्मत्व तो ये वेदादि में भी जो अनादित्व है वो कल्पित रीति से ही है वो अपना स्वरूप ही वस्तुता अनादि है नारायण तो ये जो समस्याहीन बुद्धि है तो ये कैसे होगी कि अपने आप को देखो अशब्द मस्पर्श मरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चत अनाद्यनतम महत परम ध्रुवम निचाज्य तमृत मुखा प्रमुच्यते ये तुम्हें मौत के मुंह में से निकाल लेने की विद्या है कभी बुढ़े नहीं होगे कभी मरोगे नहीं कभी पापी नहीं बनोगे कभी नरक में नहीं जाओगे कभी दुखी नहीं होगे कभी तुम्हारे मन में दुर्भाव नहीं आएगा है ना इस विद्या को कई विद्या को प्राप्त करो आत्मा का ये स्वरूप है असभ्य मत स्पर्श म मव्ययाम अब ये कल सुनाना है आपको